मदीने वालों के लिए जायज नहीं था और ना उनके लिए जो देहातियों में से उनके इर्द गिर्द हैं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने से पीछे रह जाएं और ना ये जायज था कि वह अपनी जानों को उनकी जान से अजीज रखें ये इसलिए कि उन मुजाहिदीन को जो भी पहुंचती है कोई प्यास और कोई थकावट और कोई भूख अल्लाह के रास्ते में और वो किसी भी ऐसी जगह कदम उठाते हैं जिससे काफिरों को गुस्सा आए और वो दुश्मन से जो कुछ हासिल करते हैं तो उनके लिए इसके बदले नेक अमल लिख दिया जाता है बेशक अल्लाह नेक लोगों का अज्र जाया नहीं फरमाता